मेरे पर हो मैं आप लोग के आप लोग को पा करके सुख का अनुभव कर रहा पहले बात हो तो इस आधार पर कि बहुत दूर दूर से आए हैं यह बहुत ध्यान लगा करके एक दूसरे के बात समझ रहे हैं कहीं ना कहीं अंतिम निष्कर्ष निकलेगा है ऐसा विश्वास करते हुए हम उत्सवित ठीक है इस बीच में हमको ये बताया गया है शिक्षा का स्वरूप क्या बता रहे हैं आगे लोक शिक्षा और शिक्षा शिक्षा का क्या आधार है और शिक्षा के स्वरूप क्या होगी इसको करेगा कौन और कैसा ही व्यवहार में आएंगे ये बात के जानना चाहते हैं उसी के साथ लोक शिक्षा भी समाहित इस प्रकार से हम शिक्षा के बारे में हम सब जिज्ञासु हैं किस ढंग से जो जो विकल्पात्मक अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान तो शिक्षा में कैसा पहुंचेगा उस बात के सुनने के लिए सुनाने के लिए इच्छा यहां तो हम सब बहुत बहुत ही जिज्ञासा से इस बात को सुनना चाह रहे हैं ऐसा मेरा मेरा सुनी मैं इस पर को अच्छी तरह से परखा हूं हर व्यक्ति किसी आयु तक हर व्यक्ति अपने को समझदार मानता है चाहे नर हो चाहे नारी हर हर तो हर हर मानव मैंने मानव में नर नारी दोनों संबोधित हैं तो ऐसी स्थिति में हर मानव किसी आयु तक में हर अपने को समझदार मानता है अभी तक की जो कथा है वो पैसा पैदा करने वाला समझदार है पैसा पैदा कर ना पैदा करने वाला वो समझदार नहीं ऐसा माना जाता है अभी तक की यहां तक पहुंचा तो इसके पहले बल का प्रयोग हुआ बलशाली बहुत समझदार होता है ऐसा मानते हैं ऐसा हुआ नहीं उसके पहले धन वाला होता है रूप वाला होता है ऐसा मानते रहे वो भी नहीं हुआ नहीं ये दोनों कड़नम हो चुकी है तीसरा बात पकड़ में आया है तो ये धन से धन का धनार्जन करने वाला बहुत अच्छा समझदार है ऐसा हम मानते हैं आज तक उसी के साथ पद है धन और पद तो एक साथ के एक दूसरे के पूरक हो गए हैं ऐसा बात होगा ढंग से मनुष्य का चार भाग मनुष्य का संपदा का पचार भाग प्रयोग में आ चुके इसमें हम मानव मानव चेतना को पहचान नहीं पाए इतना ही बात है चारों भागों को प्रयोग हम कर चुके भले प्रकार से उसके बावजूद हम मानव चेतना को पहचानने में असमर्थ रहे ये हमारा निष्कर्ष निकल उसके आधार पर मानव चेतना को जब परंपरा में डालने के लिए परंपरा में प्रचलित करने के लिए शिक्षा विधि को अनुसंधान किया शोध किया और तो उसको शिक्षाविदों को समझाने के लिए कोशिश किया वो कोशिश होते होते अभी जो छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा संस्थान इसको अध्ययन करने के लिए तैयार अभी संस्था के अभी और कोई संस्था हमारे पास आया नहीं तो अभी केवल छत्तीसगढ़ के राज्य शिक्षा संस्थान आ चुका है वो बुद्धि लगा करके समय लगा करके साधन लगा करके अध्ययन कर ये आपको सूचना के रूप में बता बताया अध्ययन में क्या दिया पूछा जाता है अध्ययन में क्या अध्ययन करा रहे हो ऐसा पूछा जा सकता है उसमें क्या है अनुसंधान विधि से मानव चेतना विधि से मानवीय मानव मानव मानव व्यवहार दर्शन नाम की एक समय पुस्तिका तैयार ठीक है उसको हम एक शोध ग्रंथ भी कह सकते हैं ऐसा भी कह सकते हैं करते वह उसको अध्ययन कराते हैं उसके पहले हम एक ऐसा विकल्प आया है उसको विकल्प के नाम से एक छोटा सा पुस्तिका पुस्तिकाकार में आप लोगों के हाथों में प्रस्तुत किया उसमें कई को ये विकल्प आया क्यों आया कैसा आया ये दोनों बात को स्पष्ट किया इसको अध्ययन कर सकते हैं उसमें उसमें कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकते हैं उसका उत्तर हमारे पास एक बार हम मानव व्यवहार दर्शन के मन में मानव का जीव मानव चेतना विधि से कैसा व्यवहार होता है कैसा न्याय होता है कैसा नियंत्रण होता है नियम होता है संतुलन होता है और सत्य जो प्रकट होता है कैसा प्रकट होता है उसका वर्णन है उसको उसके उसको अध्ययन कराने की वजह पठन तो सबको आता है यहाँ जितने बैठे हैं सबको पठन करना आता है ऐसा मैं मानता तो, तो पठन करने से काम नहीं चलता तो है अध्ययन करना जरूरी अध्ययन के लिए प्रस्तावित किया है कि तो हर शब्द का अर्थ होता है हर शब्द का अर्थ के अध्यक्ष में अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु होता है अस्तित्व में वस्तु को हम समझ लेते हैं तो हम अध्ययन किया तो कैसा होता है ये कहाँ से हो जाता है पूछा कल्पनाशीलता से होता है हर व्यक्ति हर व्यक्ति बच्चे में देखते बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके पर कल्पनाशीलता समाई कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता समाई इन दोनों के योग से तदाकार तद्रूप जिया उस विधि से हम अस्तित्व में वस्तु को पहचानना बनता है जब सदाकार विधि से हम पहचान देते हैं वह तद्रुप विधि से प्रमाणित होते हैं विधि को हम प्रमाण प्रमाण माना माना जाता है ये आत्मा में होने की बात कहा गया इसको अध्ययन कराता है इसमें जिसे अध्ययन करता है अध्ययन का जो परिभाषा ही की है अनुभव अनुभव की रोशनी में आत्मा की रोशनी अधिष्ठान की रोशनी में अधिष्ठान का मतलब आत्मा आत्मा क्या चीज है गठन परमाणु का मध्यांश का नाम है आत्मा अभी इसके पहले हमारे बुजुर्गों ने क्या लिखा था आत्मा के रूप में जीवों के हृदय में बैठ गए ऐसा कहता था तो उसके जगह में क्या हम पहचान यहां तो गठनपूर्ण परमाणु का मध्यांश को हम आत्मा कह रहे और उसको अनुभव करने की विधि अनुभव करने की पश्चात प्रमाणित होने की विधि है इन तीनों कारणों से उसको शिक्षा विधि में प्रस्तुत किया जा सकता है ऐसा निश्चय किया उस निश्चय के अनुसार अभी प्रस्तावित है तो अर्थ है अध्ययन में मानव व्यवहार दर्शन में मानव का कर्तव्य क्या है दायित्व क्या है इसको तय किया इसको तय करना जरूरी है या नहीं है इसको आप लोग तय करें अब सब टीका टीका उसके बाद मानव कर्म दर्शन नाम के एक भाग जो सहस्तित्ववादी जिसमें दर्शन में एक भाग है कर्म दर्शन कर्म दर्शन में मानव करने योग्य कर्म करना है ना करना उनके कर्म क्या है इसका विभाजन करना इसकी भी आवश्यकता है या नहीं उसको आप अच्छे ढंग से विचार कर सकते हैं यदि जरूरत है तो हमारा घर बनता ही है हम उसमें होता है उसको उसके लिए हम तत्पर हो ही जाते हैं समय जरूरत नहीं है उसमें हम तत्पर नहीं होते जरूरत नहीं है जरूरत नहीं क्या चीज है जीव चेतना में जीना जरूरी है ऐसा यदि स्वीकार होता है इसकी जरूरत नहीं मानव चेतना में जीना है ऐसा निश्चय होता है इसकी जरूरत में जाता है कितने ही बार उसके बाद इसके अभ्यास दर्शन व्यवहार व्यवहार और अभ्यास कर्म का अभ्यास कैसा करेगा और उसका निर्धारण किया कि कैसा अभ्यास किया जाए उसके बारे में बात किया है उससे अभ्यास दर्शन के बाद अनुभव दर्शन किया अनुभव दर्शन का नाम दिया अनुभव करने का अधिकार मानव व्यवहार दर्शन के आधार पर ही स्वच्छ होता है स्पष्ट होता है और मानव अनुभव दर्शन में हम प्रमाणित होने का अधिकार को ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट किया ये इसी चारों बात की आवश्यकता है या नहीं इसको अच्छे तरह से सभी परिशीलन कर सकते हैं सभी शोध कर सकते हैं और समझ सकते हैं प्रमाणित कर सकते हैं ऐसा मेरा स्वीकृति तो उसके आधार पर ही हमारे साथ जो काम करने वाले सब लोगों का ऐसे ही माना ऐसा लगता है ठीक है ना उसके बाद आता है विचार तो ऐसे जो सहस्तित्ववादी विचार को कैसे हम शुरुआत करें इसके बारे में बात किया है उसमें चारों अवस्था के साथ हम कैसा जी पाएंगे इससे इसका निर्धारण किया है इसमें तीन है समाधानात्मक भौतिकवाद भौतिक वस्तु तो समाधान के अर्थ में काम करना है इसका बोध कराते हैं और उसके बाद व्यवहार आत्मक जन्मार्थ जो व्यवहार में मानव जो है ना जागृति को प्रमाणित करता है इस बात को स्पष्ट किया है मानव व्यवहार किसके साथ होता है मानव के साथ होता है मानवेतर प्रकृति के साथ होता है मानवेतर प्रकृति के साथ कैसा होता है नियम नियंत्रण संतुलन रूप में होता है और मानव के साथ न्याय धर्म सत्य के रूप में होता है इसको स्पष्ट किया ठीक है व्यवहार आत्मा चलना अनुभवात्मक अध्यात्मवाद तो अनुभव में जो आने वाला है अध्यात्मवाद है अध्यात्मवाद का स्वरूप में तो अध्यात्म में समाहित संपूर्ण प्रकृति के साथ हमको अनुभव होता है तो उस स्थिति में हम उस अस्तित्व में अस्तित्व में अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले हो जाते हैं तो पदार्थ न हो केवल सत्ता हो मैंने व्यापक वस्तु हो उसका कोई अनुभव नहीं केवल केवल जो है ना पदार्थ हो केवल सत्ता ना हो तभी भी मानव में अनुभव का कोई रास्ता नहीं अभी जो है ना भौतिकवाद के अनुसार हम अनुभव को गणना का नहीं करते मानव का अध्ययन में गए नहीं भौतिकवाद भी नहीं गए आदर्शवाद भी नहीं गए इस बात को अपने को समझना पड़ेगा तो क्या है इसमें तो अनुभव के लिए दोनों प्रकृति और व्यापक वस्तु साथ साथ में होना आवश्यक है प्रकृति ही एक अवस्था की प्रकृति ही व्यापक वस्तु को अनुभव करता है फलस्वरूप परम सत्य के रूप में प्रमाणित होता है ये इसको हमने अनुभव किया है उसे अनुभव के आधार पर ही हमने पूरे बात प्रस्तुत किया है उसके बाद उसमें शास्त्र पूरे शास्त्र में ये लिखा तो मानव जो है ना तो मानव संचेतना वाली में रखें संचेतना का मतलब है सत्य को प्रकट करने वाली ज्ञान चेतना का मतलब है ज्ञान चेतना जो है ना संचेतना का मतलब है सत्य को प्रकट करने वाली ज्ञान ऐसे ज्ञान के अनुसार मानव संचेतना वाले मानव ज्ञान में एक सौ बाईस आचरण को बताया इन इन आचरणों के आधार पर मानव मानव जो है ना व्यवस्था में जी पाती व्यवस्था में जी पाता है इस बात को स्पष्ट किया उसके बाद दूसरे व्यवहारवादी समाजशास्त्र व्यवहार में हम प्रमाणित होना क्या चीज मानव संचेतना प्रमाणित होना ऐसे ऐसे व्यवहारवादी समाजशास्त्र और उसके बाद इधर जो है ना हम लिखे हैं आवर्तनशीला शास्त्र जो जो कुछ भी हम श्रम करते हैं उत्पादन करते हैं उसका स्रोत को बनाए रखने वाले बनाए रखते हुए निरंतर पीढ़ी से पीढ़ी के लिए अनुकूल बनने वाले प्रक्रिया को हम आवर्तनशील अर्थशास्त्र नाम लिखते हैं इसकी आवश्यकता है कि नहीं आप सब सोच सकते हैं समझ सकते हैं स्वीकार सकते हैं नकार भी सकते हैं जो इच्छा हो वही करिए हमारा कोई आग्रह नहीं आप समझे ऐसा भी नहीं स्वीकार्य है ऐसा भी स्वीकार आग्रह नहीं ये तो है ही ऐसा इतना बताने के लिए दृष्टता कर रहे हैं या साहस कर रहे हैं या अनुग्रह कर रहे हैं इनमें से एक है जिसको आप समझना चाहते जिसको आप स्वीकारेंगे वही ठीक ऐसा बात ये इस ढंग से दर्शन विचार शास्त्र का प्रयोजन स्पष्ट किया इन प्रयोजनों को मनुष्य में अभी हमारे पास जितने भी अध्ययन किए हैं इसकी अत्यंत आवश्यकता है ऐसा मान करके स्वीकार करें तो देखिए कैसा होगा यहाँ कैसा होगा और जगह में कैसा होगा धरती में धरती के सभी राज्यों में कैसा होगा उसको आगे भविष्य बताएंगे अब एक राज्य जो छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़ है उस राज्य में जो स्वीकृति हुई है उसके अनुसार इसके बिना कोई आदमी होना चाहिए ऐसा यहाँ का है तो इसके बारे में यहाँ भी प्रयोग हो सकता है और जगह में भी प्रयोग हो सकता है ये बात तो मानव संचेतना का प्रयोग होने से मानव जो है ना न्याय धर्म प्रति रूप में प्रकट होता है तो मनुष्य तो प्रकृति के साथ नियम नियम पर संतुलन पूर्वक प्रकट होता है ये छह भाग में आदमी का व्यवहार होता है नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य रूप में प्रकट होता है हर समझदार इसमें झगड़ा करने की जगह है या नहीं इसको हर व्यक्ति शोध कर सकता है हर व्यक्ति समझ सकते हैं हर व्यक्ति जी सकते हैं हर व्यक्ति प्रमाणित हो सकते हैं इच्छा होने पर इच्छा नहीं होने पर जीव चिंता में जीने के इच्छा हो वो करेगा नहीं वो कोई कोई इस बात पर ध्यान ही नहीं देगा और उसको इसको करेगा ऐसा मैं और उसके बाद हमारा स्वीकृति यह है यहाँ जितने भी प्रस्तुत हैं इन सबका अधिकार जो समझने के अर्थ में ही है समझने के अर्थ में यह सब एकत्रित हुए समझाया हुआ को तो प्रकट करने के लिए एकदम एकत्रित हुए और प्रमाण किया हुआ का जो तो संदेश देने के लिए यहां प्रकट है ऐसा मेरा सकते यह इसके आधार पर हम पहले दर्शन और विचार को प्रकट किया उसके बाद इसको शिक्षा रूप में देने के लिए चेतना विकास मोटिवेशन का नाम दिया इसके साथ यह भी लिखा है पढ़ने के लिए समझने के लिए जो मानवीय आचार संहिता रूप संविधान मानव मानवीयता पूर्ण आचरण उसका संविधान लिखा उसको भी आप लोग देख सकते हैं इस ढंग से हम अपने से ये माना कि ये पूरा व्यक्त हो गया है यदि इच्छा हो तो हर व्यक्ति जी सकता है ऐसा मान के चल रहा तो इसको आप लोग परीक्षण करना देखना है समझना है और अध्ययन करना है मूल में अध्ययन करने के लिए आपको पहले बताया पुनः और एक पर तो वो है अध्ययन जो अधिष्ठान के साक्ष में अर्थात अनुभव के साक्ष में अनुभव कहा से रहता है अध्यापन रहने वाले के पास रहता है अनुभव अनुभव की रोशनी में हम स्मरण पूर्वक जो कुछ भी क्रिया करते हैं वो सबका सब अध्ययन सब अध्ययन अनुभव की रोशनी में अधिष्ठान के रोशनी में क्या मतलब अनुभव के रोशनी में अनुभव अनुभव कहाँ रहता है अध्यापन अध्यापन करने कराने वाले के पास अनुभव रहता है उसी के रोशनी में हम अध्ययन करने वाले जो कुछ भी प्रक्रिया करते हैं सोचते हैं समझते हैं स्वीकारते हैं ये सबका सब अध्ययन अध्ययन में होता क्या है कुछ अध्ययन में होता ही है हर शब्द का अर्थ होता है अर्थ के अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होती है वस्तु का वस्तु का साक्षात्कार होने से हम अध्ययन किए यदि अध्ययन का साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम अध्ययन नहीं किए ये बात बात स्पष्ट होता है इसके आधार पर हम अध्ययन किया नहीं किया हर दिन हम सोच सकते हैं समझ सकते हैं स्वीकार सकते हैं प्रमाणित कर सकते हैं <laughs> ये बात ऐसा ये तो ऐसे तो ऐसा अध्ययन को अध्ययन का पूरा पूरा पल जैसा पूरा परिपूर्ण है ये अध्ययन ऐसा वस्तु जो हर हर संतान को मानव संतान को स्वीकार हम अब सर्वप्रथम भेजलाव में प्रयोग किए वह संतान मानव संतान को स्वीकार होता ठीक और मानव मानव संतान को तो स्वीकार हुआ उनके अभिभावकों को बुला करके पूछा तुम्हारा बच्चे समझ करके समझदारी के साथ जीना चाहते हैं नौकरी करना चाहते हैं तो कहे कहे कहे उसमें नब्बे प्रतिशत लोग एक है नब्बे क्या है नौकरी करना चाहिए ऐसा कहे तो दस प्रतिशत लोग कहे नौकरी भी करना चाहिए समझना भी चाहिए ऐसा कहे अभी हम छत्तीसगढ़ में एक कार्यगोष्ठी है जो राज्य संस्था के अधिकारियों से और पंजाब के सर उसका अलिगोश का मूल मुद्दा यह था तो वेतन भोगी वास्तविक रूप में प्रमाणित हो सकता है या नहीं ये पूछे हमसे लोगों ने उसके उसके उत्तर हमने दिया वेतन भोगी प्रमाण नहीं सकता वेतन भोगी वेतन का वेतन भोगी को ही पैदा करेंगे दूसरा कुछ नहीं करेंगे तो यदि प्रमाणित व्यक्ति ही प्रमाणित व्यक्ति को पैदा करेगा दूसरा कुछ नहीं करेगा ये बात पता तो उसके बाद हम वेतन भोगी क्या होंगे समझ करके प्रेरक होंगे प्रेरक हो सकते उसके आधार पर अध्ययन कर रहे अभी सब व्यक्ति अध्ययन कर अभी दो महीना हो गया तीसरा महीना अध्ययन करने वाले ऐसा ये सब अध्ययन कराने वाले व्यक्ति एक व्यक्ति यहां बैठे हैं एक व्यक्ति यहां बैठे हैं दो व्यक्ति यहाँ यहीं बैठे ऐसा बात चल रही इसका रिटर्न से ये नौ शिक्षक शिक्षित शिक्षकों को और व्यवस्थापकों को और शोधकर्ताओं को हम सम्मिलित रूप में एक ग्रुप बना करके अध्ययन करा रहे ठीक है वो एक ग्रुप बनाने का अधिकार अब वहां के सेक्रेटरी के पास थे वो कर दिए ये सब बात तो ये तो शिक्षा का स्वरूप ऐसा उसमें जो मूल थीसिस को मूल प्रबंध को तो स्नातक कक्षा में पढ़ाने की बात है और उसके पहले दस कक्षा तक पूरा का पूरा पाठ्य पुस्तिकाओं को लिखा जाता है पांच कक्षा की पाठ्य पुस्तिका लिख करके एक से लेकर पांच लिख करके राज्य शिक्षा को सौंपा उस वो छपाने की चक्कर इसमें प्रक्रिया में लगे हैं वो इसमें आगे वर्षों प्रभावशील हो जाएगा ऐसा कहा है तो इस तरह से इसलिए शिक्षा के विधा में ये पूरा समावेश होने की एक व्यवस्था चल रही है अध्ययन चल रहा है कार्य चल रहा है सब कुछ चल रहा है ये प्रयत्न भी चल रहा है हम सहमत उसी में हैं तो उसके बाद लोक शिक्षा की व्यवस्था जो बच्चे जो अध्ययन करते हैं बड़े बुजुर्गों को क्या करोगे कुछ लोक शिक्षा उसका नाम दिया लोक शिक्षा में क्या करेंगे इसी पूरा बात को हम लोक शिक्षा के विधि से हम बड़े बुजुर्गों को विदित कराए विदित कराने के कार्यक्रम अभी शुरू नहीं किए हैं वेदक शुरू करना शेष वो वो आवश्यकता है इस तरह से लोक शिक्षा और शिक्षा का तो प्रस्ताव पूरा हुआ है ऐसा राज्य शिक्षा संस्थान का स्वीकारना है हमारे साथ जितने भी कार्य कर रहे हैं सब जुड़े हैं उनका भी स्वीकारना है ये इतना बात करके अभी जितने बात आप लोगों को बताया उसमें किसी को शंका हो उसको हमसे पूछ सकते हैं उसका सभी बात का हमारे पास उत्तर जो कोई भी पूछेगा हम जितने बात बताया मध्य दर्शन सहस्त्रवाल के बारे में शिक्षा के स्वरूप में प्रस्तुत करने की विधि में बताया है उसमें जो कुछ भी शंका हो आप पूछ सकते हैं कोई भी पूछ सकता है पूछना है कोई पूछ सकते शराब लोक शिक्षा बारे में मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि जो आजकल की जो शिक्षा पद्धति है उसमें हमें एक त्रुटि नजर आ रही है कि जो भी लोग हैं अभी आपने कहा था कि भाई सभी लोग नौकरी ज्यादा पसंद करते हैं तो शिक्षा का मतलब और नौकरी से जो जो आजकल की डिग्री वगैरह है अगर किसी से पूछे ज्ञान के लिए तो कोई नहीं पढ़ता जो उनको डिग्री मिलेगी या जो शिक्षा का मात्र में कितना वो उसमें गहराई से जानते हैं वो तो मुझे अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ बस उनका कार्य यह है कि किसी तरह से डिग्री मिल जाए और हम नौकरी करें और ये जो कुछ भी और वो जो भी नौकरी कर रहे हैं या वो जो शिक्षा देंगे उसमें भी सामंजस्य नहीं है तो मेरा आपसे अनुरोध है ये कब संभव होगा कि समाज का प्राणी शिक्षा की शिक्षा मतलब ज्ञान के आधार पर वो शिक्षा ले वजह इसके कि वो नौकरी के आधार पर जीविका को मानने के लिए तो उसमें शिक्षा का गुण नहीं रहता जिसने सिर्फ जीविका को सिर्फ लेना है जीविका जरूर जरूरी है ऐसा मैं मानता हूं लेकिन वो जो शिक्षा का आज का जो माध्यम है उससे मैं बहुत ही दुखी हूं कि सिर्फ नौकरी मिले एक सर्टिफिकेट मिले बस उसी लिए उसको ज्ञान कहा जाता है उससे मैं और भी ज्यादा छोड़ने में हूं तो इसके प्रति आपका थोड़ा नजरिया जाना क्या कहना हाँ मेरा प्रश्न ये है कि जो शिक्षा पद्धति जैसे अभी हम अभी बात कर रहे थे तो जो आज की शिक्षा व्यवस्था है वो तो यही है कि भाई हम पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी लेकिन जो ज्ञान के प्रति लालसा इच्छा है वो उसमें समावेश नहीं होता खाली एक नौकरी मिलेगी इसीलिए डिग्री या पढ़ाई हो रही तो ये जो ज्ञान से ओतप्रोत जो शिक्षा है जो सिर्फ ज्ञान के प्रति या आत्मीयता या जो भी जानने के प्रति जीवन के प्रति वो चीज तो नहीं है ये कब संभव हो पाएगा क्या कहें अभी जिस जो शिक्षा दिया जाता है वो केवल आजीविका है आपका कहना है क्या कहना केवल आजीविका के लिए दिया जाता है अभी अभी जो शिक्षा है और हाँ, तो ठीक है तो ये जो ज्ञान के लिए शिक्षा जो है वो कब संभव हो पाएगा क्या संभव कब संभव होगा समझने से संभव हो जाएगा ये जो ज्ञान शिक्षा है ज्ञान शिक्षा का प्रयोजन समाधान है समाधान पूर्वक हमको जीना है नहीं जीना है तय करिए नहीं कर देना है क्या चीज है वो समस्या से जीना है जीव चेतना में समस्या से जीने की बात कहा है और मानव चेतना में समाधान पूर्वक जीने की बात कहा है कैसे देना है आप ही सोचिए जो आपको ठीक स्वीकार हो उसमें हम कोई उतराज नहीं किंतु मानव चेतना से मानव समाधान को प्रमाणित करता है जीव चेतना में मानव समस्या को पैदा करता है घर से लेकर स्वयं से लेकर घर तक घर से लेकर संसार तक धरती तक समस्या पैदा करने के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकता अभी जैसा एक प्रमाण आ चुका है धरती भी मैं रोना धरती भी मैं मानव का कर्तोत्साह हुआ कि और कोई भूत किया है तो उसको भी सोचिए यदि ये मानते हैं मानव ने किया है मानव ने जीव चेतना में समस्या को पैदा किया इसको स्वीकार सकते यदि नहीं स्वीकार स्वीकारना नहीं स्वीकारना आपके खास में कोई आग्रह नहीं है हमारा जैसा विचार हो वैसा ही करेंगे किंतु जीव चेतना विधि से समस्या के अलावा कुछ होता नहीं मानव चेतना विधि से समाधान के बिना और कुछ होता नहीं जो करना है वही करिए ठीक है ये बात पर हो तो समाज समझदार समझ कैसा समझेगा कैसा समझेगा कब तक समझेगा ये बात करता सखल को कर्म करने के लिए इतना दिन समझा है पैबल लगा है इतना सब बहुत धरती को बर्बाद किया वनस्पति संसार को जंगल को बर्बाद किया और जीव संसार को बर्बाद किया मानव को जितना बर्बाद करना है किया आबाद करना है करे ये सब कोई देश बहुत आबाद किया मानते हैं कोई देश बात कोई देश बहुत बर्बाद हुआ मानते हैं ये सब हम पेपर में पढ़ते तो आप जैसा करना है वैसा सच यदि मानव चेहरा इतना बात सच्ची है कि चेतना समय जीते हम समस्या के बिना कुछ नहीं तैयार कर पाएंगे और मानव चेतना में जीते समाधान के अभाव दूसरे कुछ कर नहीं पाएंगे ये दोनों बात है इसको हम स्वयं अनुभव किया ठीक है और कुछ और कुछ और कुछ इसके साथ पूछना है <coughs> पूछना और कोई प्रश्न या जिज्ञासा अध्ययन और अध्यापन अध्ययन और अध्यापन वह सूर्य को समझाइए अध्ययन और अध्यापन अध्ययन जो होता है तो संयुक्त रूप में होता है एक अध्ययन करने वाला अध्यापन करने वाला के साथ अध्ययन होता है उसका अभी परिभाषा बताए थे जो अनुभव की रोशनी में हम जितने भी प्रक्रिया करते हैं समझने के लिए उसका नाम आए थे एक तो परिभाषा ही बताया उसके समर्थन में अगर बताया तो हम जानव शब्द का एक अर्थ होता है अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है वस्तु का साक्षात्कार होने से हम अध्ययन किए अभी हाँ बताइए बताइए एक उदाहरण एक उदाहरण हाँ? उदाहरण उदाहरण जैसा हम आप जो है ना अपने घर में किसी से बात करते हो अपने कल्पनाशीलता से उसका साक्षात्कार होता उसके अनुसार काम करते हैं आप अपने बच्चे को समझाते हो अपने पत्नी को समझाते हो अपने पिंत को समझाते हो अपने विद्यार्थी को समझाते हो वो सब अपने कल्पनाशीलता से तदाकार होता है उस प्रकार से सोचना शुरू करते हैं हर दिन हर दिन की काम है चाहे चोरी चमारी का हो आपका अपराध का हो तो जीव चेतना का हो उसमें भी ऐसे ही है और मानव चेतना में भी वैसे सबको ही तो चोर नहीं होते हैं तो डकायत नहीं होते हैं किंतु कोई लोग तो चोर होते हैं है करते हैं तो वो वो तो तदाकार विधि से ही करते हैं तदाकार कारण से होता है कल्पनाशीलता से हर व्यक्ति के पास का अपना चिंता कर्म तत्व के रूप में रखा हुआ आज पैदा हुआ बच्चे में भी देखो और कल मरने वाला बुढ़े में भी देखो सब में मिलता है और इससे ज्यादा गवाही क्या चाहिए एग्जाम्पल क्या चाहिए और क्या चाहिए बता ठीक है आगे आगे नमस्ते मैं Shatrunjay triple I T Hyderabad में करती हूँ मेरा प्रश्न यह है कि एक अध्यापक में आपको क्या लगता है कि मिनिमम गुण होने चाहिए जिसके बाद वो अध्यापन का अधिकारी बन जाता है या कैसे व्यक्ति को अध्यापन बिल्कुल नहीं करना चाहिए इनको बिल्कुल निषेध है उन्होंने ये पूछा कि आपके अनुसार एक व्यक्ति में ऐसे अध्यापक में ऐसे क्या गुण होने चाहिए जिससे वो अध्यापन कर सके या उसके बिना क्या वो अध्यापन करने के अधिकारी है ही नहीं अध्यापन अध्यापक में क्या गुण होना चाहिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए अध्यापक में अब योग्यता यही है स्वाध्यापक पहले बता चुके हैं हम अध्यापक समझा हुआ व्यक्ति होता है प्रमाणित किया हुआ व्यक्ति होता है अध्यापक समझा हुआ व्यक्ति प्रमाणित किया हुआ समझदारी समझदारी कोई भी प्रमाणित करता है मानव चेतना में जैसे समाधान होता है वो हर मानव संतान को स्वीकार है अभी आपको उसका उदाहरण बताया सर्वप्रथम हम लोगों ने बिजनौर में इसको प्रयोग किया बच्चों में मुखर होने लगा जो अलगंतुक रहे वो भी चक्रित हुए अभी उनका अभिभावक रहे वो भी चक्रित हुए ये बात अभी जो है ना वही चीज रायपुर के पास एक मुंडा नाम के गांव है जगह वहां के स्कूल के बच्चे ऐसे ऐसे मुखरित हो रहे तो उसका जो उदाहरण हम बताना चाहूं यही बताएंगे यह एक साहू जी नाम के सज्जन बैठे हैं बैठे हैं हाँ वो तो उस वो बताएंगे उन्हीं के समय में बात घटित हुई वह वहीं के अध्यापक हैं तो वहां के लोगों को हमारे अंजनी अग्रवाल यहाँ बैठे हैं उनके पत्नी जाकर के उन बच्चों को संबोधित करती है वह जाती है सुकून के समय से एक घंटा पहले एक घंटा पहले जाती है बच्चे उनको अगौरते रहते हैं अगौरते हुए रहते हैं वो उनके उन, वो बच्चों ने बच्चों के पास एक बार एडीआई आया है उनसे बच्चों ने बच्चों से पूछा तुम क्या क्या सीखना चाहते हैं मैंने कहा आपको न्याय बताओ सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में न्याय का पता नहीं है एडीआई क्या बताएगा वह हुए वो अपना ऑफिसर से बताए वो कलेक्टर से बताए कलेक्टर ने फिर बनवाए बस को, को अटेंड किया अटेंड करने पर वैसे वैसे ही प्रश्न देखा वो काफी परेशान हुआ उसके बाद अध्यापकों को तीन हजार अध्यापकों को शिविर करे ये ये वहां की घटित घटना है ऐसा बात हो रहा अब देखिए तो इसमें जो है ना अध्यापक वही है समझा हुआ व्यक्ति प्रमाणित किया हुआ व्यक्ति उसके कम में कोई अध्यापक होता ना होता है तो वही समस्या पैदा करने वाला रखा है वो जीव चेतना में यदि जीता है वो समस्या के लिए आधार बनेगा दूसरा कुछ आधार बनेगा नहीं मानव चेतना में जीता है वह समाधान के ही आधार होगा दूसरा कुछ होगा नहीं जो आपको इच्छा हो वही कर लीजिए अब प्रयोग करके देखिए होता है कि नहीं ठीक है हरि जय जय हो आगे आगे और कोई बात दूसरा प्रश्न है कि आपने अभी कहा कि वेतन भोगी कभी अध्यापक हो नहीं सकता ठीक से तो वर्तमान व्यवस्था में जो यूनिवर्सिटी में है वो वेतन दिया जाता है व्यक्ति को जो उसकी दैनिक आवश्यकता उसकी पूर्ति करने के लिए क्या इस स्थिति में जो वेतनभोगी अध्यापक कैसे न बना जाए क्या ऐसी उसके लिए आवश्यकता बन जाती है कि उस व्यक्ति की हर आवश्यकता की पूर्ति का जो पूरा अधिकार जो कर्तव्य हो समाज उठाए उसका भरण पोषण करे उस स्थिति के अभाव में वर्तमान परिस्थिति में अभी अध्यापक क्या करे अध्यापक के अध्यापक वेतन भोगी नहीं होगा तो उसकी आवश्यकताएं कैसे ऐसा प्रॉब्लम मैं बताया समाधान पूर्वक निर्णय के क्रम में समृद्धि के उपाय निकल मैं एक सामान्य परिवार के आध्यात्मिक तो हम जब समाधान पा गए समृद्धि का उपाय निकल गया कृषि करता हूँ गोपालन रखा हूं और सामान्य आयुर्वेद को हम जानता हूं सामान्य औषधियों को पहचानता हूं उसका चिकित्सा करता तीन काम करता अभी अभी जो है नहीं तीन कामों से हमारा कोई काम रुका नहीं है अभी तक हम हमारे हाथ पैर से ही सब जगह में को हम पराधीन नहीं ठीक है तो पूरे वस्तु का जो प्रयोजन को हम पहचाना हो वो है शरीर पोषण परिवार में जितने लोग रहते हैं उनका शरीर पोषण संरक्षण है ना घर द्वार उसके बाद जो है ना समाज समाज गति में भागीदारी करने का अधिकार बना रहता है ये कहा है समृद्धि में अभी क्या करते हैं आप ही सोच लो आप ही सोच लो पैसा इकट्ठा करके आदमी क्या करता है आप ही सोचो आप सब लोग जानते हैं इसमें कोई लुका छुपा कुछ नहीं है पैसा इकट्ठा करके क्या करते हैं वो सबको जब पता है अभी जो व्यवस्था है उसके अंदर मनुष्य जो है ना इसके स्वस्थ रहना है इस बात को कहता है कई के लिए स्वस्थ रहना है इसके इस बात के लिए स्वस्थ रहना भोग के लिए स्वस्थ रहना है संघर्ष के लिए स्वस्थ रहना ये ठीक है ये ठीक है आप इस बच्चे क्या बताया आपको शरीर पोषण संरक्षण समाज गति के लिए सारे वस्तुओं का सदुपयोग है ये सदुपयोग है संघर्ष करना स्वीकार है युद्ध करना स्वीकार है और ये, ये, आप ही सोच लो ठीक है आप सोच के अपने अपने में निर्णय क्या तक अरे और आगे तक एक बात समझ नहीं आई आपने कहा कि शिक्षक को प्रमाणित करते हैं प्रमाणित कौन करता है उसकी स्वयं बुद्धि या उसकी योग्यता तो योग्यता को क्या समाज प्रमाणित करता है या व्यक्ति अपने कार्यों से प्रमाणित करता प्रमाणित कौन करता है समाज मतलब शिक्षा के शिक्षकों के बारे में या जो आपने कहा कि कोई किसी को कुछ पढ़ाता है ज्ञान देता है तो उसको प्रमाणित कौन करेगा समाज क्या कहना कहते हैं कि शिक्षक को प्रमाणित कौन करेगा वो खुद प्रमाणित करेगा अपने आप को या समाज उसको प्रमाणित करेगा क्या समाज का कोई लेन देन नहीं भाई समाज का लेन देन हर व्यक्ति के साथ में जुड़ा है हर व्यक्ति का मूल रूप समाज का समाज का सूत्र मानव का मानव ही धारक वाहक समझदारी के बाद हर व्यक्ति संस्कृति सभ्यता को परिवार के रूप में वो हल करता है और सभा के रूप में विधि व्यवस्था को वहन करता है ये आता है ये ज्ञान का रहता है उसी के आधार पर वह परिवार मूलक और राज्य व्यवस्था प्रकट हो रही है तत्पर है प्रकृति ऐसा बना है ठीक समझ में आ गया परिवार विधि से समझदार परिवार विधि से मानव संस्कृति सभ्यता बहाना होता है ठीक है और सभा विधि से परिवार सभा विधि से विधि व्यवस्था संविधान होता है परिवार में ही पूरा पर, पूरा प्रमाण का आधार परिवार में प्रमाणित होने की बात ही हम संसार में प्रमाणित होते हैं संभार समझदार व्यक्ति का माता की बात है अधिकार की बात है प्रवृत्ति की बात है तीनों बात है प्रवृत्ति में होता है अधिकार में होता है वैसे ही माता ही बनता है और आगे और आगे कुछ बाबा जी वर्तमान व्यवस्था में काफी गरीबी है कृषि के साधन नहीं है पशुपालन की व्यवस्था ही नहीं है ऐसी व्यवस्था में वो कैसे स्वावलंबी बने अभी उनका कहना है कि बाबा स्वावलंबी बनने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के पास कृषि की जगह नहीं है किसी के पास पशु नहीं है तो कैसे स्वावलंबी वो ठीक है वो जो है ना उसके वैसे इसको स्वीकारा जा सकता है ये कब तक रहेगा समझदार नहीं बनेगा तब तक रहेगा समझदार होने के बाद अपने अपने जगह बनता है मैं आपको हमारा उदाहरण बताया है हम कोई बहुत बड़ी भारी धनाढ़ व्यक्ति नहीं है अब मेरे भक्ति विरक्ति के आधार पर हम साधना किया है भक्ति विरक्ति में कोई संग्रह होता नहीं ऐसा करते हुए हम जब स्वावलंबी होने की बात आई हमारे पास बहुत सारा उपाय निकल के आए हम जितना तीन उपाय बताया हो और उसके अलावा तीस उपाय हमारे पास है तीन उपाय को हम कार्य में लाया हूं तीस उपाय हमारे पास रिजर्व है इसके बाद क्या चाहते हैं हर वक्त का कम आते कि मैं समाधान के बाद समझ बिना समझ के किसी के पास ना साधन पूर्ता है ना परिस्थिति अनुकूल होता है कुछ भी नहीं होता समाधान के बाद सारा परिस्थितियां अनुकूल होता है और सारा साधन पूरा होता है अधिक होता है जितना साधन रहता है वो अधिक होता है हमारे पास श्रमशीलता साधन रूप में रखा ही है हमारा श्रमशीलता प्रधान वस्तु अभी पैसे को समझ समझ रहे हैं प्रधान है वो अब उसके बदले में हम यहाँ पहुंचते हैं हमारा श्रमशीलता प्रधान यहाँ पहुंचते हैं श्रमशीलता तो सबके पास आता एक भी आदमी खाली नहीं श्रमशीलता से रिक्त हो ऐसा कोई आदमी को प्रस्तुत कर ही नहीं सकते गूंगा लूला लंगड़ा सभी के पास आता है श्रमशीलता इसको देखा गया उसके बाद क्या कहा बताइए और कोई बात आपके पास तीस उपाय है आप बोल रहे हैं हाँ। दो चार बता दीजिए हाँ। कुछ उपाय बता दीजिए मट्टी से बहुत सारा बर्तन बनाया जा सकता है लोहे से अनेक प्रकार की वस्तु बनाया जा सकता है और उसके साथ साथ जितने भी साइकिल की व्यवस्था है उसको हम तैयार कर सकते हैं ऐसा नहीं पता है ये सब हमारे पास रखा हुआ और क्या चाहते हैं और क्या और कितना चाहते हैं तो और क्या चाहते हैं बताओ क्या देखो बातों से कुछ नहीं होता है चीजें से हो अभी बात तो हम गाढ़ा भर की कर सकते हैं कोई फायदा नहीं से फायदा जीना समाधान के बिना होता है बिना बनता ही समाधान के बिना कोई जी नहीं सकता हम देख अपराध कोई जीना नहीं अन्याय कोई जीना नहीं अनर्थ कोई जीना नहीं लोफड़ा लोफड़ा ही कोई जीना नहीं झूठ बोलना कोई जीना नहीं ये कोई जीना नहीं उसके अलावा जीना है समाधान पूर्वक जीना है समृद्धि पूर्वक जीना है नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जीना है सत्य सत्य सहज तो विधि से जीना है तब तो समझना ही पड़ेगा आपको भी समझना पड़ेगा हम जो समझने में 25-30 वर्ष लगाए आपको तो 25-30 पच्चीस पच्चीस हफ्ता तो लगाया और 25 महीना तो लगाया 25 वर्ष तो लगाया तो महीना तो लग सक, लगा सकता है ना नहीं लगा सकते यदि लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे समझाने की व्यवस्था हम कर रखा है बता हैं ये बात हो गए उसके बाद क्या कारण पूछो पूछो ना भाई आखिरी एक एक आखिरी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो देंगे उसके बाद विराम देंगे बाबा आखिरी लास्ट इन्होंने ले लिया हाँ। वो अलग से शाम को सात से नौ बजे बाबा के साथ सभा होती है उसमें क्या निकला कुछ निकला प्रणाम बाबा मैं आशीष है ट्रिपल आईटी से बाबा विद्वानों से सुना है और पढ़ा भी है कि मानव जीवन के समस्त क्रियाकलाप मोक्ष प्राप्ति के लिए है तो ये मोक्ष का स्वरूप क्या है और मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए मोक्ष क्या चीज है मानव जीवन का उद्देश्य क्या नहीं है मोक्ष ब्रह्म मुक्ति मोक्ष ब्रह्म मुक्ति क्या चीज है कुछ है ब्रह्म क्या चीज है कुछ है उसका उत्तर यह है ब्रह्म जो है ना शरीर को जीवन मानना यही ब्रह्म शरीर को जीवन मानने से क्या होता है संवेदनाओं को जीवन मानते हैं जीवन ही ऐसा बुद्धो बनता है फलस्वरूप दुख भोगता है किसमें क्या तकलीफ है और कुछ कहना शरीर को जीवन मानना ही भ्रम है भ्रम ही भ्रम से मुक्त होना है मोक्ष और और कुछ और कुछ ना और दूसरा भ्रम का और एक परिभाषा दिया है भ्रम मुक्ति के बारे में कि वो जो अतिव्याप्त है व्याप्त है व्याप्त दोषों से मुक्त होना इसको भ्रम मुक्ति ना बताए और कुछ बात और कोई बात हो तो बताइए हो गया खत्म हाँ खत्म धन्यवाद सबको धन्यवाद शुभाशीष और प्रणाम और तो नमन सब सब जो जिसको जरूरत है वही स्वीकार हरि है जय हो यही बैठे रहे पौने तो भी शुरू होगा बाबा के ठीक क्या होगा बाबा भी कमरे में लौटेंगे उसके दो मिनट बाद अपन अगला सत्र शुरू करेंगे ना चाय की ब्रेक हो गई है <laughs>